आइडिया लगा देते हैं तो दिल्ली में मेरा सत्संग था द्वारिका में और वहां नए नए फ्लैट और नई नई जगह थी तो तुलसी के पौधे वौधे थे नहीं और मैं रोज सुबह तुलसी लेता हूं उसको पता है और बेचारा लाता है तो उसने इधर उधर देखा तुलसी बुलसी थी नहीं शनिवार का दिन था रविवार को तो नहीं खाते तो फिर मेरे कमरे में आया और कमरे में यूं यूं करने लगा तो मैंने समझा कि क्या देखता होगा आप उसको बंदा मतलब तो कुछ बोल रहा था लेकिन वही बोले वही जाने तो फिर मेरे हाथ में वो तुलसी का जो हार दिया था किसी ने छोटा सा ऐसे ही गजरा दिया था तुलसी का ऐसे मोटा तो मैंने वो पत्ते निकाल के धो के अपने हाथ में रखे थे मैंने दिखाए बड़े खुश हो गया कि मैं वही उसका बोलने का था कि यहाँ मैंने बहुत ढूंढा तुलसी मिली नहीं थी फिर मेरे को याद आया कल गजरा आया तो फिर ये बाबा ने ले लिया बहुत अच्छा हो गया ये तो मेरे की चिंता मिट गई ऐसा जो भी बोला मैं नहीं समझा सच बोलता हूँ लेकिन उसकी खुशी देखकर मेरे को भी ऐसी खुशी हुई कि मैं घूमने गया और मेरे भजन बोला बाहर से तू कुछ भी बोले भीतर मंगे मंगन मंगी हो तेरा शब्द न जाने को जिसने तेरी भाषा लिखी है मंगेगा गिण मांगिण मुंह में कलम डुबोए तेरा शब्द न जाने तो जैसे वो मंगेगा करके बस तो चल जाता है हमारा सेटिंग अच्छा है <laughs> वो हमको समझ गया हम उसको समझ गया अपना <laughs> ठीक चलता है काम <laughs> ऐसे आप ठाकुर जी के साथ मंगेगा करना चालू कर दो ठाकुर जी भी समझते हैं मेरे से ज्यादा ठाकुर जी समझते ही मंगेगा की भाषा जैसा उमेंद्र ठाकुर जी का चिंतन करके हरि ओम नमो भगवते नाम बोले बाबा जी क्या भगवान का कौन सा नाम लो अरे वो सब जानते हैं कि ये क्या बोलता है इसमें ऐसा कोई नहीं होता कि ये करना है ऐसा करना नहीं भगवान के है भगवान मेरे हैं और हमारी सारी चेष्टा को जानते हमारी इच्छाओं को जानते भगवान अब हमारी इच्छा कैसी बोले कि तेरी प्रीति मिल जाऊ महाराज मैं तेरा हूं भगवान की प्रीति मिलना बहुत बड़ी बात है बोले महाराज नहीं मिलती है संसार के लिए तो रोता है मन हरामी पैसों के लिए रोते हैं परिवार के लिए रोते हैं दुनिया भर के लिए रोते हैं भगवान के लिए रोना ही नहीं आता वे क्या करें अरे भाई नहीं आता तो झूठ मुठ में ही रो तो भगवान जानेंगे कि मेरे लिए रो रहा है झूठ मुठ में रो रहा है लेकिन मेरे लिए रो रहा है वो अपने तरफ से बोले अरे झूठ मुठ रोता है ले ओए हो बिठा देंगे गोद में बड़ा सरल तरीका है जैसे तैसे बिन फेरे महाराज हम दे रहे हूँ सुबह कमरा बंद करके पांच मिनट आप कूदो हंसो नाचो रो जैसा पागलपन फिर चुप बैठो बोले सचमुच आपको ऐसी भक्ति भगवान देंगे कि मैं उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं वृंदावन में वहां तो भक्ति का गढ़ है बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी भक्ति रस में छके रहते हैं तो बोला कि भाई महाराज मन नहीं लगता है तो बोले रो बोले महाराज रोना आता ही नहीं अरे बोले नहीं आता तो झूठ मूठ में रहो तो कुछ भगत थे बोले चलो झूठ मूठ में रोए झूठ मूठ में रोए भगवान तुम मिलते नहीं हो महात्मा भी बोले सभी बोले ऐसे करके झूठ मूठ में रोने लगे <laughs> महात्मा लोग भी गजब के होते अब झूठ मूठ में रोने लगे तो एक भगत को सच्चा रुदन आ गया अब सच्चा रुदन आ गया भगवान की भक्ति का तो ये भी संक्रामक है तो बाकी के लोग भी रोए और बड़ा अच्छा लगा कह रहे आज तो वाघ गदगदा द्रवते यश चित्तम असति क्वचित रुदती भिक्षाम बोले अब तो मिल गया ना सूत्र ऐसे करो आप लोगों को भी मिल गया ना इधर उधर की बात से आपको भी मंगेगा करना तो आ गया ना हरिओम छोड़ दे चतुराई જેવો તેવો હું તારો હારા વાલા મને કઈ આવડતું જ નહીં હું તો જાડુ ખાતું પટેલ હું તો પટલાણી મારા વાલુડા जैसे तैसे हम तो जाट अरे भगवान बोलते तुलसीदास ने भगवान कई संतों के द्वारा भगवान ही तो बोलते तुलसीदास ने कहा जाट भजो गुजर भजो चाहे भजो अहीर तुलसी रघुवीर भजन में सब काओ की पीर सबकी पहुंच है जाट भजे अनपढ़ जाट भजो गुजर भजो चाहे अहिर भजो ओ महाराज ओ महाराज कहा जा रहा है इधर आओ इधर हमारा गोरखनाथ आए तो महाराज घाम लग रही है जरा खा ले रोटी को टुकड़ो महाराज अभी अभी आई गर्मा गर्म आई गुआर की सब्जी है बाजरी की रोटी है महाराज और लस्सी भी है खा लियो खाई अंगो रखना जाने लगे अरे अभी कहा करोगे बाबा धूप लग रही घाम जरा आराम करो महाराज बोले ठीक ही है वो जरा जो कुछ जब महाराज देखा थोड़ा आराम हुआ जाने लगे तो अच्छा बाबा जा ही रहे आओ हाँ अरे तो बाबा मने भी कहीं दे जाओ <laughs> तो काय चाहिए बाबा कहीं उपदेश दे दो मारो कल्याण कहीं हो मैं तो अनपढ़ हूं मैं तो मूर्ख हूं बाबरी में तो बैल हूं बैल गद्दो गद्दो हूं मैं तो मारो उद्धार कैसे होगा गोरखनाथ ने देखा कि आदमी तो सच्चा तो है बेचारा दिल का प्रेमी भी है थोड़ा छुपा हुआ प्रेम है बोले तो बात मानेगा बोले हाँ महाराज खाली एक बात मान ले सब हो जाएगा बोले महाराज मैं तो गणी मानू बोले जो थारे मन में आवे वो मत करी जो तेरे मन में आए वो मत करना हाँ बहुत समझ बस और कुछ बोले मैं बस इतना ही काफी है शाम हुई अपना खेत वाले तो मैं सोचा कि अब घर जाऊं तो याद आया कि मन में आए मत करी जो अब घर में जाने का मन में आया अब कैसे जाऊं गुरु को वचन दिया तो हल बल तो कंधे पे रखा जवान था खड़ा खड़ा खड़ा खड़ा बोला मैं बैठ जाऊं बोले ये भी तो मन में आयो अब कहीं करो अरे वो भी तो मन में आयो कहीं करो तो, तो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि होती है देर हुई तो घर वाले आए आया नहीं आया नहीं आया नहीं पूछते पूछते देखा तो, तो कंधे पे हल अरे काए हैं बोले इनको बताऊं लेकिन ये भी तो मन में आया कुछ बोले तो चल तो अपने मन में नहीं आया उनके मन से चल दिया अरे काय हो गया तो सोचा कि इनको बताऊं ये भी तो मन में आया ओ भुआ भोपा लगाया धुनाया कोई मार पीट खाई लेकिन मन में आया तो नहीं क्यों बताना बस एक दिन हुआ दो दिन हुआ तीन हुआ गोरखनाथ जाके वापस लौटे थे गांव में हाहाकार मच गई वे वो रहे हो तो रे बाबा उन्होंने कहा कर दियो वो तो छोरो ऐसा हो गया बाबा ने देखा पूछा जाके क्या है बोले महाराज कुछ नहीं तो आप આ आज्ञा थी થઈ मन में आवे આવ્યો નહીં नहीं बोलना तो बस और तुमने तो ठीक डाला बाबा ने कहा इसको जो लग गया है वो मेरे साथ चलेगा फिर वो भूत निकलेगा लेके जाके एकांत में थोड़ा बिठा दिया अरे महाराज ऐसा सिद्ध पुरुष हो गया कि चौरासी सिद्धों में हाली पांव हल कंधे पे रखा और पांव उठाया और गुरु की आज्ञा शेर उधार करके वो पांव वहीं रुका तो हाली पांव चौरासी सिद्धों में जो सिद्धों में शक्तियां थी वो सभी उस अनपढ़ किसान में आई ऐसे दूसरी एक कथा मिलती है संत जा रहे थे और किसी ने महाराज आओ जरा खा पी लियो जरा तो गेटे का दूध बूध ये हम बिक्री कर दे फिर बोले महाराज मेरा तो कहीं मैं तो अनपढ़ हूं मैं तो घेटा बकरा चराऊ मालदारिया मेरे उद्धार का उपाय बताओ अरे बोले क्या उद्धार का उपाय जो दिखता है वह भगवान तेरी लीला गेटा हरा हरा घास खाता सफेद सफेद दूध देवे घेटे के बच्चे की छोटी छोटी आंखों में तू ही देख रहे आए है वाह प्रभु जरा सा बीज में वृक्ष बने तेरी लीला परंपार वाह प्रभु तेरी लीला परम्पार इतना तो आवे बोले इतना तो घना ही आवे इतना कर लेगा बोले वो कर लिया तो बोले बैठ गया भगवान के गोद में वैदिक भक्ति मिल गई और वैदिक भक्ति तो करेगा तो परा भक्ति हो जाएगी बन जाएगा ज्ञान अपने आप ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है उसमें तो और मुसीबत पड़ती है धन सुविधा और क्वालिफिकेशन तो और अड़चन होती है जो है बस पर्याप्त और आज चलते चलते वाह वह तेरी लीला परम्पार वह तेरी लीला परम्पार तो रस आने लग गया वो अनजाने में भगवान की गोद में बैठ गया तो उसी देश के राजा को स्वप्न आया और सुबह मंत्री को बोला कि रात को ख्वाब आया और अल्लाह ताला ने कहा कि तेरा खजाना एकदम भरपूर कर दे तो मंत्री ईमानदार था बोले जहां पना खजाना भरपूर कर देंगे तो टैक्स प्रजा पे डालेंगे तो ये अल्लाह ताला ने नहीं बोला है ये तो आपके बदमाश मन ने शैतान शैतान का स्वप्न है तो प्रजा का खून चूस के खजाना पुर कर दे वो आपके मन रूपी शैतान का स्वप्न है अल्लाह ऐसा स्वप्न नहीं देते बोले ना चीज कहीं के मैं बोलता हूं अल्लाह ताला ने मेरे को सपने में कहा तू बोलते निकाल दिया मंत्री को जंगल में रवाना वो मंत्री धक्के खाते खाते उसी गडरिए के पास आए वहां से निकला अरे बोले मंत्री इधर आ बेटा इधर आ और राजा ने लात मार के तेरे को धकेल दिया बोले तुमको कैसे पता बोले उसकी लीला परंपरा है <laughs> ये शक्ति सबके अंदर छुपी होती कई लोग ताजुब करते इधर आते मैं बोलता हूँ तुम्हारे पैसा है बेटे को ऐसा ऐसा यूं देखते अरे ये तो सबको प्राप्त है लेकिन संसार की वासना से वो दबी हुई है बस भगवत प्रीति से जागृत है बोले सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है न जाने कब रुला दे और फकीरों के साथ भीख मांग के रहना भी अच्छा है वह भगवान तेरी लीला परम्पार मेरे को तो इतना ही बताया बस मैं तो बड़ो खुश हूँ और मेरे तो साहब अभी जो ठीक हो गया अच्छे हो गए हो सारो काम काज घर बार सब सब अच्छे हो गया बात तेरी लीला परम्पार तेरी लीला परम्पार उसको व्यसन पड़ गया जैसे कईयों को व्यसन होता है ना हम बात करते करते समझे समझे समझे तो मेरे को भी बोलते समझे तो मैं बोलता हाँ समझ गए हम कैनेडा गए थे तो एक ऐसे भक्त मिले और सेवा में था તો બાપુજી આપણે પછી અહીંયા પ્રવચન કરીને ત્યાં જઈશું રાઈટ પછી ત્યાંથી આપણે ત્યાં પેલા ગાર્ડનમાં વોક કરશું અને વોક કરી લઈશું રાઈટ अब राइट राइट राइट मैंने कहा hello mister right right right right मैं अति राइट बोल रहा था तो फिर मैंने उसको बोला ये है right hello mister right okay all is right हाँ तो जब भी वो बोले तो राइट तो मैं उसको याद न हो राइट तो उसकी थोड़ी आदत बची तो ऐसी आदत पड़ जाती है ना जिसको कहीं बोलने की लेकिन लेकिन मगर मगर अगर अगर राइट राइट है पाण पाण हैने छेने हैने हैने तेने तो ऐसे ही भगवान की प्रीति की भी आदत पड़ जाए तो मंत्री को बता दिया मंत्री को जरा भगवान में थोड़ी प्रीति और जरा अच्छा लगा मंत्री को बोला जाओ राजा के पास कहीं नहीं करेगा मैं बोलता हूं भगवान बोला रहा जाओ तो राग नहीं था द्वेष नहीं था तो भगवत वाणी थी वो बोला तो मंत्री गया तो राजा का मन बदल गया अरे यार मैंने तेरे को लात मार दी और ऐसा ऐसा बोले तुम्हारी हमारी सारी कहानी वो गडरिया बता रहा है और सारी बात उसने बताई कि कौन सा बोले चले दर्शन करने तो वो राजा और मंत्री उस गडरिया का दर्शन करे तो गडरिया का तो कितना वट हो गया बोलो प्रसिद्ध होने में उसको क्या देर लगी तो जो भगवान की गोद में बैठ जाता है उसको बाकी का माल समझ अपनी साधना भजन श्रम अनुष्ठान करना ये समझो मेहनत करके कमाना है और भगवान को अपना और अपने को भगवान का मान कर प्रीति करना और जब ज्ञान करना तो समझो सेठ के गोद चले गए नगर सेठ के गोद चले गए ऐसे नगर सेठों का नगर सेठ ठाकुर जी के गोद चले गए फिर ठाकुर जी तुम्हारे गोद में तुम ठाकुर जी के गोद में हम न तुम दफ्तर गुम तो अद्वैत ज्ञान रसमय प्रेमा भक्ति अच्छा लगता है ना आनंद आता है हाँ। બહુ સારું લાગે છે આજે તો ખરેખર ગમત સાથે જ્ઞાન બહુ સારું બાપુ ખરેખર બાપુ મારા વાલા ઓય ઓય મારા વાલો રે પ્રભુજી क्या मेहनत है कर्म में श्रम होता है और कालांतर में फल होता है भक्ति में श्रम नहीं होता और कालांतर में फल नहीं रस रूपा होती